ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर लाभ अगला सिद्धि बता रहे हैं जब ब्रह्मचर्य में साधक प्रतिष्ठित हो जाता है पूर्ण अष्टधा मैथुन से रहित हो जाता है तब उसको वीर लाभ होगा समस्त प्रकार की सिद्धियों का लाभ वीर निरोधो ही ब्रह्मचर्य तेन वीर लाभ भवती वीर का निरोध कर देना अस्खलन हो जाना उसके लिए हस्तदा प्रकार का जो बताया गया मैथुन में से किसी प्रकार के न करने वाला व्यक्ति का ही वीर निरुद्ध हो जाता है और वह वीर ओज के रूप में परिवर्तित होकर के सुषुम्ना नारी के माध्यम से ऊर्ध गति को प्राप्त करता है उसको ऊर्ध रेत कहते हैं उस स्थिति को प्राप्त हुआ योगी को सकल प्रकार की सिद्धियों का लाभ होता है निर्दिशम सामर्थ्यम लभ्यते वीर वीर का तात्पर्य निर्दिशय सामर्थ्य जो है वह उसे प्राप्त हो जाता है भाष्यकार कहते हैं यस्य लाभ अप्रतिघान गुणान उत्कर्ष जिससे ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा रूपी सामर्थ्य का लाभ होने से अप्रतिघान अविरोधी अविनाशी गुण समूहों का जो है उत्कर्ष प्राप्त होता है मैंने अनिमा गरिमा लघिमा इत्यादि यह गुण समूह है वो अष्ट जो सिद्धियां हैं उनको प्राप्त करना उसे उत्कर्षता प्राप्त होती है इतनी सिद्धश्च विनेश ज्ञान मात्रा तुम समर्थो भवती वो अन्य जो आठ प्रकार की सिद्धियां हैं कौन है वो ऊह शब्दो अध्ययन दुख विघात प्राप्ति दान च सिद्धयो अष्ट शांति कारिका में कहा गया ये कारिका संख्या इक्यावन वहां पर साफ बोला है ऊह शब्द अध्ययनम दुख विघात तीन प्रकार की सुहृद प्राप्ति और दान ये आठ चीज ऊह मने शास्त्रों को सम्यक किस शब्द का कहा क्या अर्थ लेना है जैसे मूल शास्त्र हो चाहे भाष्य हो चाहे टीकाएं हो कहा क्या अर्थ लेना है उसको वो आपको करने की क्षमता वाला व्यक्ति हो जाता है जिसका ब्रह्मचर्य परिपक्व होता है ऊह करने की क्षमता होने से शब्द का यथार्थ ज्ञान उसको हो जाता है प्रसंगानुसारेण लक्ष्यानुसारेण और बोध कराने के लिए विवक्षित अर्थ तक को पहुंचने में समर्थ हो जाता है उसको शब्द हुआ वह शब्द और सम्यक अध्ययन दुख विघात त्रिविध जो दुख है तीसरा दुख विघात आध्यात्मिक आदि भौतिक और आज दैविक दुखों को विघात करने की सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है सुहृत प्राप्ति ही हमेशा कभी उसको जो है दुर्हृत की प्राप्ति नहीं होगी जहां भी हो जाएगा सभी उसके मित्र ही है सभी प्रेमी होंगे सभी उसके होंगे उसे मिले तो सही है बार ना मिले और दूरी रह करके कुछ भी कल्पना करे और दुश्मन बनते रहो बात अलग कभी ना देखा कुछ भी नहीं ऐसे भी लोग हैं साधु समाज में कभी ना देखे हैं न कभी ना जानते हैं न मिले हैं कुछ भी कल्पना करके कुछ भी बोल देते हैं ऐसे भी लोग हैं एक बार ऐसे हम तो आपको अच्छे से जानते किसी ने कहा हमने कहा अच्छा आप कितने दिन से हमको देख रहे हैं अरे चार दिन हो गया चार ही दिन से तो देख रहे हो अच्छा कितने दिन से हमारे बारे में सुने हो होगा एक दो साल से बस एक दो साल से आपने सुना है चार दिन से हमको देखा है इतने में जान लिया आपको मुझे आपने जान लिया मुझे मैं कौन हूँ कैसा हूँ क्या हूँ क्या नहीं और मैंने कहा देखो मूर्ख इस शरीर को पैदा करने वाले पालने वाले पढ़ाने लिखाने वाले बड़ा करने वाले वो 24 साल हमको देखते ही रहे देखते ही रह गए समझ नहीं पाए तुम क्या समझ गए दंग रह गया हाँ? मैंने कहा वो 24 साल देख देखते रहे सुने नहीं उन्हें नहीं पाला ही है पैदा ही किया है तो तक था दो साल चार दिन से तो देखा है वो तो जिंदगी उन्होंने ही दी है पाला उन्होंने पोसा उन्होंने सदा देखते रहे हैं वो नहीं जान पाई क्या चिड़िया है और तू क्या जानेगा हाँ ये बात तो गलत हम सोच रहे मैंने इसे कभी नहीं सोचना किसी के बारे में सब कुछ जानना तुम जान सकते हो सब कुछ एक ही चीज की क्या खुद की तुम खुद को जान लो तो सब कुछ जान लो खुद को जो नहीं जानता ना वो दूसरे को जानने की चेष्टा करके धोखे में रहता है क्यों दूसरे को कभी आप पूरा जान ही नहीं सकते किसकी क्या कर्म है क्या संस्कार है क्या वासना है क्या हम जान पाएंगे कोई जान सकेगा तथाकथित ईश्वर के अलावा और कोई नहीं जान सकता किसी के बारे में फिर क्यों हम जाने के प्रयास करें आप कौन है जी क्या करते हैं जी कितना तनखा आता है जी पत्नी कौन है जी आपकी वो क्या करती है बच्चे कितने हैं अरे काय को लपड़े में जाए कितनी जान लोगे तुम जान के क्या लाभ न लाभ है न पूरा जान सकेंगे तो फायदा क्यों झंझट में पड़ने का विवेकी का काम है इन चक्करों में नहीं पड़नी सामने आ गया कोई व्यवहार है कर दो भाई जयराम जी तुम जाओ नाम भी पूछने की जरूरत नहीं की व्यवहार नाम के बिना जब हो सकता है तो उधर ही करो ना कहे वो नाम के पीछे पड़े या जितने हैं अस्सी प्रतिशत का नाम भी पता नहीं हमें हम कहते ब्रह्मचारी जी बोलिए बोलता हूँ अब ब्रह्मचारी जी उनका नाम पता नहीं अब इनसे बात होती तो कहते महाराज बोलो अब पता नहीं उनका नाम क्या रूप को होते हैं ना सिद्धांत पाठ में दो चार का नाम ही जानता हूँ तो बोल देता हूँ बाकी का तो कहते आप बोलो आप बोलो जानते हैं वो भी उन लोगों का व्यवहार हो गया उन्होंने बताया लिखाया एप्लीकेशन तब तक तो पता चल गया उनका नाम नहीं तो कहां से पता चल तो उसमें चक्कर पड़ना नहीं चाहिए उसके बिना व्यवहार करने की कोशिश करो तब जा करके दुख विकास प्राप्ति वस्तु वास्तव में बोध होता है नहीं तो सदा दुहित ही रहोगे सदा जो आपको मिला वही आपको धोखा देगा आप प्रपंच के चक्कर में रहेंगे तो जो भी आपको मिलेगा मित्र बन के आएगा शत्रु बन के जाएगा इसलिए ब्रह्मचर्य में पक्का रहोगे तो सूर्य प्राप्ति होगी जो शत्रु भी आएगा वो भी मित्र होके जाएगा ये विशेषता इसे ब्रह्मचर्य का पालन का अनेक फल बताते हुए कह रहे अवस्था ही नहीं दान देने का सामर्थ्य ऐसा होता है जिसका अंतिम चीज का वर्णन कर रहे हैं विनयेश ज्ञानम आदातम सम आठवा है अष्ट तो सिद्धियों में से अलग जो ये अलग अष्ट सिद्धियां है ये शास्त्र को लेकर के कर रहे हैं वह शब्द अध्ययनम दुख विघात स्वरत प्राप्ति ही दान वो दान का अंतिम बात को तो हम कथन कर रहे हैं वो सामर्थ्य आता है उस योगी में कि वो अपने शिष्यों के हृदय में विनय मने शिष्येशो विनयेशो मैंने शिष्येशो ज्ञानम आधातम समर्थ होती ज्ञान का आधान करने को उसको सामर्थ्य बस शिष्य अपना हृदय खोल दे वह योगी उसमें ज्ञान दे सकता है और शिष्य बंधा हो रहे तो क्या करे उल्टा घड़ा इस ऊपर पानी चिता डालेगा गुरु क्या फायदा होगा उल्टे घड़े में पानी कभी भरेगा नहीं चाहे जितना पानी डालो ट्यूबवेल चला लो कोई फायदा नहीं होगा तो वही हालत है ना ज्ञान गुरु देना भी चाहे तो दे कैसे उल्टा घड़ा बना हुआ है बंद कर रखा अपने अंतकरण को अंतकरण खोल के चला जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी तो वो योगी निश्चित रूप उसको ज्ञान आधान कर सकता है उसको मुक्ति का मार्ग में प्रशस्त कर सकता है आप परिग्रस्त जन्म कथनता संबोध अपरिग्रह में यदि स्थिरता आ जाए अपरिग्रह में आप प्रतिष्ठित हो जाए तो क्या फल मिलता है जन्म कथनता जन्म के प्रकार का बोध हो जाए पूर्व जन्म क्या थे इस जन्म में अब क्या है आगे क्या होगा अगला जन्म यदि होता है तो क्या होगा सारी चीज को जानना है अपरिग्रस्त जन्म कथनता संबोध एक आदमी थे जय दयाल गोविंद का बड़ा प्रसिद्ध है बहुत पुस्तक तक लिखे हैं एक बार ऐसे निर्णय लिया घर द्वार छोड़ छाड़ के यहाँ गीता भवन में रहने लगे एक साल तक निश्चय कर लिया कि हम कोई परिग्रह नहीं करेंगे न्यूनतम वस्त्र न्यूनतम हर चीज रखा कोई ऐसा अधिक वस्त्र है कोई चीज नहीं थी उनके कमरा जो कुछ भी नहीं एक साल तक रहे एक साल के अंदर उन्होंने अपना अनुभूति लिखा है कि ऐसा ऐसा दृश्य ने पता चला कि हम पूर्व में क्या थे उनकी पुत्री क्या थी वो घबरा गए अरे मैंने अपने माँ से शादी कर लिया ये कैसा हो गया कि पिछले जन्म वो माँ थी ये इस जन्म में पत्नी अपना जन्म पूर्व जन्म जाना पत्नी का जिनको चाहा सबका जान रहे थे सबका कथा देगा पूर्व जन्म की और इस जन्म में क्या हम आपस में वो डर गया था कि भैया इसने तुरंत परिग्रह करना चालू कर दिया ये तो गड़बड़ सिद्धि है हम्म। ये गड़बड़ सिद्धि है ठीक नहीं असले जान ले तो मुश्किल है जीना ही मुश्किल हो जाएगा व्यवहार मुश्किल हो जाता है इसलिए कहा है भगवान ने बढ़िया वरदान दिया है हम भूल जाते पहले क्या तुरंत तुरंत सब छोड़ छाड़ के तुरंत गए घर गए भागे यहां से इस तरह से इसकी सिद्धि इस काल में इस कलयुग में भी लोगों ने अनुभव करके लिखा है आप परिग्रह में निष्ठा हो जाए तो जन्म कथनता संबोध कथम इत्यस्य भाव कथनता कथम शब्द से तल प्रत्यय कथम इत्यस्य भाव कथनता जन्मनी कथनता तस्या संबोधित जन्म कथनता संबोध जन्म जन्मों की जो कथन था प्रकार उसको सम्यक प्रकार से जानना उसको जन्म कथन था तत्संबंधी जो ज्ञान है उसका नाम जन्म कथन था संबोध संबोध मैंने साक्षात्कार कैसा कोई अभिनय कर अधिकार है भाषाकार अश्य भवती यह ध्यान कर लेना योगी को यह फल मिलता है क्या फल को अहम आसम कथम अहम आसम कथम स्विदम के वा भविष्याम कथम वा भविष्याम दो भूत का दो वर्तमान दो भविष्य को दिया को हम आसम मैं कौन था और किस प्रकार था किंस्विदिदम यह क्या है और मैं इस समय किस प्रकार का हूँ कथंस्विदिदम केवा भविष्य मैं क्या होऊंगा और कथम व भविष्य किस प्रकार का होगा इति एवं अश्य इस प्रकार से पूर्वांत परांत मध्येश पूर्वजन भावी जन्म और मध्य वर्तमान जन्म के बारे में आत्म भाव जिज्ञासा स्वयं के जिज्ञासित करता है तो स्वरूप उपावर्तत है उस पूर्व उत्तर वर्तमान का जो स्वरूप है उस स्वरूप को वह अच्छी तरह से अनुभव कर लेता है उसको साक्षात्कार जिसके यथार्थ स्वरूप में ज्ञान आप बना स्वरूप की बात नहीं कर रहे हैं पूर्वांता का अपरांता का और मध्य का जो स्वरूप होता है जिस प्रकार की क्या है कैसा है वो पूरा का पूरा उस ज्ञान हो जाएगा साक्षात्कार हो जाएगा एता यमस्तैर्य सिद्ध रहा इस पांच जो यम थे आपका उन यम का अहिंसा सत्य अस्थेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन पंच यमों में प्रतिष्ठा पाने का फल वर्णन हो गया और अब नियमेश वक्षा नियमों का अनुष्ठान करने से शौचालय जो पंच हैं उन पंच नियमों का अनुष्ठान करने से क्या फल मिलता है उस योगी जब शौचालय प्रतिष्ठित हो जाता है उसे सिद्ध हो जाता है तब उसको क्या फल मिलता है वो वर्णन करने जा रहे हैं सौजात सांग जुगुप्सा पर संसर्ग शौचार शौच बाह्य शौच और अंत शौच का लिए आवश्यक कर्म कांड आदि को करते करते करते उसको अपने से घृणा हो जाए आश्चर्य लोगों को घृणा होता नहीं इतने साबुन लगाते हैं इतना तेल लगाते हैं क्या क्या करते हैं फिर भी आपको आज तक वैराग्य नहीं हुआ अवधेश शरीर और जितना घिसेंगे उतना ही ज्यादा वैराग्य होना चाहिए बोल रहे हैं कारण क्यों वैराग्य नहीं हो रहा है पता है नहीं आप लोग भी रोज नहाते कि नहीं नहाते है नहाना तो पड़ता नहीं है ना भैंसों के जैसे नहाते तो हैं सभी क्यों नहाते हैं कि दुर्गंध आता है इसलिए नहाते हैं और नहाने के बाद दुर्गंध चला जाता है फिर भूल जाते हैं नहीं कारण दूसरा है कि आप लोग जो है विशेष साबुनों से नहाते तो साबुन का जो सुगंध है ना वो दिमाग में भ्रम हो जाता है ऐसा भ्रम डालता है आप समझते हैं मेरा शरीर जैसा पवित्र सुगंधित दिव्य नहीं है इसलिए शास्त्रों में जो है ये सब केवल भोग के साधन बताए बढ़िया साप पच्चीस रुपए के खरीद के लाते जबकि वही नाइट बॉय से भी काम चल सकता है अपने आप को और जल में फंसाते आप सड़क पे हम जाए तो लोगों को सुगंध मिलना चाहिए हमारे शरीर से बढ़िया साबुन से ना साधु होकर के भी सब ऐसा करते शैम्पू लगाएंगे मेहंदी के लगाएंगे चर्बी वाला आता है चर्बी वाला आता है वो चाहे जो भी हो उसका आनंद ले रहे हैं ना तभी शरीर से वैराग्य नहीं होता है नहीं तो इतनी बार हाथ धोना पड़े इतनी बार जब वो धोना पड़े ये धोना पड़े झंझट ही झंझट हो तो उसको वैराग्य हो जाए सोचा स्वांग जुगुप्सा और जब अपने ही शरीर से घृणा हो गया तो दूसरे शरीर को पकड़ के क्या प्यार करोगे परीर असंसर्ग दूसरों के शरीर को तो आप बिल्कुल पास फटकना नहीं चाहिए छूना तो दूर किया प्यार करना तो दूर किया ये लाभ है शौच प्रतिष्ठा का स्वांग जुगुप्सायाम शौचम आरभमाण कायावधि अवध्य दर्शी उसी को होता है जो काय में विद्यमान अवध दोष का दर्शा है दृष्टा है काया अवध मैंने कायगत तो दोष का दृष्टा दोषे जितने बार भी दो जितने बार भी हो जितने बार भी कुछ भी कर लो कुछ ही देर के बाद वही हाल रह जाता है इस शरीर का कोई फर्क नहीं कितने साबुन घिस गया कितना क्या हुआ कोई अंतर पड़ा आज तक कुछ फर्क बात वही स्थिर फिर पसीना फिर दुर्गंध फिर मल सब वही इसलिए काय दोष दर्शी जो होता है वह योगी यदि शौचम आरो मारा नित्य विधियों के अनुसार हाँ? सात बार दो चौदह बार दो इक्कीस बार दो बोला है ना उस नियम का पालन यदि करेगा निश्चित रूप में उसको स्वांग में जुगुप्सा घृणा हो जाए जुगुप्सा नहीं घृणा अपने शरीर के प्रति घृणा हो जाता है काय अनभिस्वंगी यतिर्भवत काय में उसकी विद्यमान आसक्ति बिल्कुल खत्म हो जाती काय अनभिस्वंगी काय में शरीर में प्रीति शून्य हो जाता है वह किंच जब अपने शरीर से घृणा हो गया जिसको उसके दूसरों के शरीर में क्या आनंद होगा परेर असंसर्ग काय अवलोकी स्वी कायम जिहासितु हो जिहासु हो मृत जलाविराक्षालयन्नपी काय शुद्धि अपश्य कथम बल कार्य काय अत्यंतम एवं अपयत ही संसृज्येत ऐसे दूसरों के से कैसे संबंध करना चाहेगा जो कभी नहाते नहीं सेंट फुर फुर फुर करके आ जाते हैं है? जान रहा है कि भाई ये तो कभी नहाते नहीं महीना में एक दिन नहाते होंगे और केवल सेंट ला करके आते हैं अब ऐसे लोगों के साथ कैसे संबंध करेगा वो कभी नहीं कर सकता वही कह रहे हैं काय स्वभाव का अवलोक योगी है वो देख रहा है मेरा शरीर जैसा वैसे सारे शरीर ऐसे ही होंगे यह अनुमान कर लेता है अस्मत शरीरवत हो गया देहा सर्वदोष सर्वावद्यवती यह कैसा है सकल दोष वाला है क्यों मलाधिपत पृथ्वी भौतिक कार्यत्व अस्मत शरीर अपने शरीर के समान ये अनुमान कर लिया सर्वाणी शरीरानी अवध्यवंती दोषवान ही है भौतिकवात अस्मत शरीरवत कि भौतिकम तब तक अवध्यवत भवती जो जो भौतिक होता है वह सब एक सड़ेगा गलेगा नष्ट होने वाला होता ही है इस प्रकार व्याप्ति के आधार पर निश्चय कर लिया है इसलिए काय के स्वभाव को देखने वाला जो योगी स्वम अभी कायम जहाँ सु अपने काय से घृणा होकर के त्यागना जो चाह रहा है हेता देख रहा है हेता बुद्धि से युक्त है वो मृत जलादिराक्षालन आक्षालयन मृत जल साबुन आदि के द्वारा धोते हुए भी काय शुद्धि में पश्चन शरीर का शुद्धि न होता हुआ देख रहा है देख रहा है कि शरीर का शुद्ध नहीं होता नहीं हो सकता है ऐसा देखता हुआ वह योगी कथम पर काय अत्यंतम एवं दूसरे लोग बिल्कुल नहाते धोते नहीं कुछ नहीं कर रहे हैं अप्रयतर पर कायर जो बिल्कुल ही प्रयत्नशील नहीं है, है? हाँ? पानी तो छूना नहीं चाहते कागज के इस्तेमाल कर रहे मूढ़ ऐसे लोगों के साथ संग कौन करे ऐसे परकायों के साथ कथम संसर्जित कैसा कोई संबंध कर सकता है असंभव है फिर ये सब पढ़े हुए अच्छे अच्छे योगी अपने आप को कहने वाले महात्मा वेशधारी उन गोरे चमड़ों के पीछे भागता बड़ा आश्चर्य ये सब पढ़े हैं ऐसे नहीं पढ़े ऐसी बात वही तो कह रहा हूँ आपके कान से पहले बोल चुका हूँ गोरे चमड़े और कौन है वही तो है कागज की इस्तेमाल करते सेंटों का इस्तेमाल करते नाद कभी है नहीं जरूरत ही नहीं ज्यादा कहो तो, तो सिंह कभी नहाता है तर्क देते हैं सिंह है अच्छा ठीक है फिर आप पशु है हम मरने को तैयार नहीं सिंहवत जीना चाहते फिर मनुष्य अपने आप को घोषित कर देंगे अनुचित है इसलिए वैराग्यार्थी सब बात कह रहे हैं ना शौच का फल यही है शौच संतोष हम है ना उसके लिए बता रहे और भी बात कर रहे ये तो हो गया बात वैराग्य होता है जितनी आप अपने आप को शुद्ध घर को शुद्ध मकान को शुद्ध कमरे को शुद्ध चादर शुद्ध रहना चाहेंगे उतनी ही सबसे वैराग्य होता है बाह्य और अंत शुद्धि के चक्कर में आपके सारे संसार से वैराग्य होता है केवल वैराग्य ही नहीं है फल तो ब्रह्म ज्ञान तक फल मिलता है शौच का कैसे सप्त शुद्धि सौ मनस्य काग्र इंद्रिय जयात्म दर्शन योग्य ये भी सब फल मिलेगा उसके अंत शुद्ध हो जाएगा सप्त शुद्धि जब अंतगण शुद्ध होगा प्रसन्न मन रहेगा मन चित्त जो हृदय बुद्धि है अत्यंत प्रसन्न होगा अर्थात विवेक युक्त होगा सौमनस्थ एकाग्र इंद्रिय जयात्म दर्शन योग्यता नहीं है उससे क्या होगा एकाग्रता बढ़ेगी जैसी विवेक बढ़ते एकाग्रता बढ़ेगी तो वैसे वैसे इंद्रियों पर आपका विजय होगा इंद्रियों पर जैसे जैसे विजय होगा तो अपना स्वरूप दर्शन की योग्यता इस बुद्धि रूपी सप्त में प्राप्त हो जाता है ये भी शौच का फल है भवंती थी वाक्य योग्यवानी योग्य भवंती ऐसे सूत्र में जोड़ लेना पड़ेगा शुचे है ये शौच का फल है क्या सप्त शुद्धि मन अंतकरण की शुद्धि मन धीरे धीरे निर्मल होते जाता है जितना वायु शुद्धि करेंगे उतनी अंत शुद्धि होती जगह कुत्ता भी जहाँ बैठना चाहता है वहां थोड़ा मुझसे से सफाई करके बैठता है अरे इंसान ऐसा गधा हो गया है जो जहाँ बैठे हुए देखता भी नहीं यहाँ क्या पड़ा है जहाँ रहता है उसका कसफाई का ध्यान नहीं लेकिन इसे देना ही चाहिए देने पर ही जाकर के मेरा किसकी और अंतकरण शुद्धि हो सकती है बाह्य शुद्धि के बिना अंत शुद्धि असंभव नहीं संबंध दिखा रहे तभी सत्व शुद्धि होगी और सत्व शुद्धि का फल क्या तदा सौ मनस्यम मन निश्चल होगा स्वच्छ होगा मल रहित होगा तथा किम उसे क्या होगा एकाग्रियम भवती एकाग्रता पैदा होगी उसी एकाग्रता से क्या लाभ तथा इंद्रिय जय तब इंद्रियों पर आपका विजय हो जाएगा इंद्रिय विजय से क्या होगा तथा आत्मदर्शन योग्यतम स्वरूपानुभूति की योग्यता इस बुद्धि सत्व से भवती इस बुद्धि रूपी सत्व का इस बुद्धि रूपी जो आपका जो बंधन का कारण है अध्यास का कारण है बुद्धि के अंदर स्वरूप दर्शन की योग्यता आ जाती है अधिगम्य यह सारी बात शौच रूपी जो नियम का पहला वाला है उसमें स्थिरता अर्थात निष्ठा प्राप्त करने पर अवश्य प्राप्त होता है इसे साधन क्या है लेकिन शौच का साधन सोच के दस साधन बता दिए शुद्धर्थ दस नियम पालन करना पड़ता है ये दस नियमों को पालन करोगे अंत शुद्धि अपने आप होने लगता है क्या क्या दस नियम है तब संतोष आस्तिक्यम दानम देवस्य पूजनम सिद्धांत श्रवण चित्ते जपोहूतम ये दस चीज है सबसे पहले तप आलस नहीं होनी चाहिए सवेरे उठना है चार बजे क्योंकि ठंड है चलो भाई जिस दिन गर्म हो जाए गंगा जी दस दिन नहा लेंगे गंगा जी ना गर्म होनी है ना नहाएगा वो तो ऐसा नहीं होना चाहिए तप करो छायन करो उसको संतोष ये भी शुद्धता का हेतु यदि आप चलो संतोष है तो आप अपने आप सचारो जितने हैं उतने में इस प्रसन्न रहो जितना ज्यादा बटोरोगे उतनी ज्यादा शुद्धि फैलती चारों संभाला नहीं जाएगा कौन झाड़ू कौन सा हो न्यूनतम रहेगा सामग्री आप उतनी स्वच्छ रख सकते हो ना आप और ढेर से कपड़े हो गए रोज अलग अलग बदलते रहो फेंकते रहो किनारे में और कौन धोए उन सारे ढेर हो जाते एक महीने बाद तो देखते रह जाते अरे क्या करे हाँ, जिस दिन देखा जाएगा कभी ना कभी धोएंगे धोया ही नहीं जाएगा फिर उसी को दो बार आप पहनना चालू कर देगा <laughs> <laughs> ऐसों को भी हमने देखा है तो इसे कम दृढ़ता संतोष रहने से ज्यादा माल टाल नहीं रहेगा सम्यक प्रकार सबको साफ सुथरा रख सकेंगे असंतोष आस्तिक्यम शास्त्र जो कहते हैं शुद्ध रहना चाहिए उसमें आस्तिक की बुद्धि होनी चाहिए वह भी एक हेतु है सोच के प्रति दानम ज्यादा आ गया तो देना सीख लो कंजूस मत बनो दान दो नहीं कई ऐसे भी महाराज हम तो रखते नहीं है ज्यादा ना ज्यादा वो दे देते ना कहा देते हो किसको देते हो वो दुकान में जाके बेच देते ऐसे घटिया लोग अब क्या कुछ दान में जाके जो है पांच सौ रूपये का चीज को पचास रूपये बेचने को तैयार है किसी दूसरे को फ्री में देने को तैयार इतने भी, भी ये नहीं होना दान मैंने दान वास्तविक दान देवस्य पूजनम और देव भगवान की पूजा इस देवता की पूजा ये भी शौच के प्रति कारण बनता है तो पूजा करना है तो, तो उस वजह से मजबूरी में ना होगे ना और संध्या करना तो नहाना पड़ेगा संध्या नहीं करना तो नाना क्या करोगे और संध्या पूजा करने की हद मजबूरी है ना नाना पड़ेगा उसको क्योंकि अपने धर्म में तो नहाए बिना तो पूजा नहीं होती है ना अपने धर्म में नहाए बिना पूजा नहीं होती यानी कि कोट पहन लिया क्योंकि थोड़ा मार दिया सेंट अपना हो oh गॉड कर रहा है चल गया उसका काम ये नहीं चलने वाला यार देवस्य पूजनम सिद्धांत श्रवण और सिद्धांत का बार बार श्रवण करना चाहिए शास्त्रों में बार बार श्रवण करो आसत्य राम प्रदेर कालम निरंतर वेदांत चिंतिया जब तक आत्मानुभूति नहीं होती है तब तक नित्य स्वाध्याय करना स्वाध्याय से बढ़कर कोई तप तद्धि तप तद्धि तप करके तैत्र प्रश्न लिखा है स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम महाप्रमोद कर दिया स्वयं का अध्ययन गुरुजनों के मुख से सुनना और कोई प्रवचन ये नहीं प्रवचन देना नहीं यहाँ स्वाध्याय प्रवचन कर तो भाषिकार बहुत सतर्कता और बोल चुके हैं यानी कि बोलना जाके दुनिया को सुनाना पढ़ रख लिया दस बीस श्लोक और भाषण जाड़ रहा वो प्रवचन नहीं है प्रवचन में स्वाध्याय का तात्पर्य इसलिए दिया स्वयं पढ़ना स्वेन अध्ययनम स्वाध्याय गुरुमुखे ने श्रवण प्रवचन ये लगातार होती रहती तब सिद्धांत श्रवण और ही लज्जा विकर्ण जो जितना निर्लज है उतना ही अपवित्र रहेगा तो मतलब ही नहीं दुनिया से जैसा पशु क्या है निर्लज है ना जहाँ देखो खड़ा पेशाब कर देता है पशु है वैसे आदमी करे तो निर्लज है ही लज्जा भी इसलिए सोच के प्रति बनता है और कहते हैं मतिष्ठ ज्ञान विवेक ज्ञान बनाए रखना चाहिए जप नित्य गुरु मंत्र इष्ट मंत्र इष्ट देवता मंत्रों का जप उतंच और नित्य होम आदि करने से भी शुद्धि होती है ये शुद्धि का कुछ बाई है कुछ अंत के लिए है दस प्रकार के उपाय बताया गया जिनके अनुष्ठान करने से शौच की सिद्धि हो सकती है इस प्रकार से पहला नियम का विचार हो गया दूसरा नियम है शौच संतोष तप स्वाध्याय पुण्यदानी नियम उसे दूसरा है संतोष संतोषाद अनुत्तम शुभ लाभ इससे पूर्व में थोड़ा उसी के दो श्लोक पर ध्यान जाना चाहिए डालना है देखिए नव छिद्र कृदा देहा स्रवंती घटिका इव बाह्य शौच न शुद्ध्यंती नात शौचंद विद्यते दुर्दशा लोगों का वर्णन कर रहे इस श्लोक में नव छिद्र कृदा देहा नव छिद्रों से संपन्न शरीर है इन शरीरों से निरंतर घटिका यंत्र के समान श्रवण देव तो मल निकलते ही रहते आम से मल निकलते कान से मल निकालते रहते नाक से तो जुकाम सर्दी में देखते ही हो निकलते रहता है जिलवा रोज छीलते हैं तब भी मल बैठती है देखते हैं और आगे पीछे का तो दिन में चार बार इस्तेमाल ही करते हो जानते ही हो नित्य श्रवंत मल निकलते रहते हैं इन सब छिद्रों में प्रमुख नौ के बना रहे और बाकी चरम के प्रत्येक छिद्र से पसीना आदि निकल रहे तो देख ही रहे इसे कहते हैं नव छिद्र कृदा देहा श्रवंती घटिका इव बाह्य शोची न शुद्धंती बाहर जितना भी कर लो तुम न शुद्धियंती चाहे प्लास्टिक सर्जरी कर दो तो भी क्या पूछना ही नहीं निकलेगा भले लेकिन धूल झाड़ तो बैठेंगे पर कहा तक रोक लोगे इसलिए कहते बारिश उछी न शुद्ध दी चलो बाहर की अशुद्धि रहने दो अंदर से तो मैं शुद्ध हूँ नान्त शोचम तो विद्युत है आप जो बाहर से शुद्ध नहीं रह पाता वो अंदर से कहा शुद्ध होगा ऐसे भैंस बुद्धि वाले के अंदर शुद्धि कभी हो नहीं सकती और इस श्लोक उपदेश शास्त्र के जो बार बार बताता हूँ वो श्लोक है स्वदेहा स्वदेह अशुचि गंधे न विरचित अपमान विराग कारण तस्य स्वदेह अशुचि गंधे न अपने शरीर के ही अपवित्रता आदि दुर्गंधों के वजह से यदि जो पुरुष न विरजित यह अपमान अपने से जब पुरुष व्रत नहीं हो पाता विराग कारण ऐसे व्यक्ति को वैराग्य के अनेक साधनों का कथन करने का क्या है कि मन उस भगवान क्या उपदेश देने की जरूरत है कोई आवश्यकता नहीं जब वैराग्य का विचार विवेक का विचार उसी के सामने करना है जिसको अपने शरीर से घृणा होगा जिसको अपना शरीर का जीने से घृणा नहीं हो रखा है उस व्यक्ति को उपदेश देना वेदांत व्यक्त क्योंकि वो सुनेगा और हंसेगा वैराग्य की बात करते हैं कुछ नहीं उसको तो हल्का महसूस होता बात असर नहीं कर सकता बहुत है कहते भी है हाँ, कर्ण परंपरा से सुन लेता हूँ लोग बताते हैं हमको आकर के कहते हैं महाराज जी का तो स्वभाव तो बोलते रहते उनको अपना बोलने तो हमें अपना करेंगे हमें जो करना है वो हम करते रहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या फर्क पड़ता है तो यही होता है जिसको अपने शरीर से वैराग्य नहीं जिसको संसार से किसी वस्तु से वैराग्य नहीं उन लोगों को सुनाने से उल्टा मजाक ही उड़ता है उसका हंसी मजाक उड़ाते हैं लोग उनको कोई लगने वाला है कोई फर्क नहीं पड़ता है जैसे कोई कोयला को घिस के सफेद करने का प्रयास करे वो तो मूर्ख ही उसका व्यर्थ प्रयास ऐसे हम लोगों का भी प्रयास कुछ छत तक व्यर्थ ही जाता लेकिन इतने ही आशा लेके अपने मनन के लाभ के दृष्टिकोण से करते हैं अब इस लाभ में किसी और को भी लाभ हो सकता है यह मान के छत्र है हो या ना हो उसके अपने अपने कर्म फल है यानी ये मुख्य लक्ष्य तो इसलिए बार बार करते अपना मनन करना अपना लक्ष्य योग सूत्र पढ़ाते तो योग के ऊपर मनन हो जाता है और उस सुन करके आपको तो पैसे का लाभ हुआ नहीं हुआ वो आप जानिए न होगा तो हम दोषी नहीं हुआ तो हमें कोई लाभ नहीं लाभ आप ही को है अपना स्वाध्याय का लक्ष्य स्वयं का मनन है हमें किसी को पढ़ाना नहीं है हमें किसी को विद्वान न बनाना है न बना सकता हूँ इसे कोयले को हम सफेद नहीं कर सकते तो किसको मैं विद्वान क्या बना सकता हूँ नहीं बना सकता इसलिए हम पढ़ा नहीं रहे किसी को न हम किसी को विद्वान बना पाएंगे न कुछ हो सकता है हम अपनी स्वाध्याय कर रहे हैं अपना मनन कर रहे हैं उसका लाभ आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात इसी दृष्टिकोण से किया जाता है और जिनको लाभ महसूस होता है वो निरंतर आते हैं जिसका लाभ महसूस नहीं होता है छोड़ जाते हैं यही उचित प्रक्रिया है ऐसी ही होनी चाहिए स्वाध्याय स्वमननार्थ ही अध्ययन हो जिस जिन आपके मन में आगे मैं पढ़ाता हूँ मैं आचार्य हूँ बस गया हुआ आदमी छुट्टी उसकी हो ब्रह्म ज्ञान से मोग से बहुत दूर चला जाए अहम आ गया कि मैं आचार्य हूँ मैं एक विद्वान हूँ मैं पढ़ाता हूँ मेरे इतने विद्यार्थी मैं इतने को मैं पढ़ा के विद्वान बना रहा हूँ उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा वो स्वयं के अज्ञान को प्रकाशित कर और स्व अज्ञान क्यों अतिग्रह दुनिया में वो मिलना बड़ा मुश्किल होता है जो अपने अज्ञान को पहचान लेता है अपनी अवकात को जानने वाले कोई कोई होते हैं नीतिज्ञो नियतिज्ञ भी धर्म ज्ञान भी भाव स्वज्ञानज्ञो अतिवृदा नीति को जानने वाले बहुत मिलेंगे नियति काल की गति को जानने वाले भी दुनिया में बहुत मिल जाएंगे शास्त्रों को रट कर सुनाने वाले भी दुनिया में बहुत मिल जाएंगे धर्म के मर्म को रहस्य को जानने वाले मिलेंगे अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी का बोर्ड डालने वाले ब्रह्म ज्ञानी भी बहुत मिल जाएंगे लेकिन अपने हृदय में विद्यमान अज्ञान को जानने वाले कोई कोई इसी दुर्दशा का दूसरे श्लोक में व्याकरण में क्या क्या किया आज की स्थिति का वर्णन करता है गता वेद विद्या गतम धर्म शास्त्र गतम रे गतम रे गतम न्याय शास्त्र इधानीम तना जना प्रवृत्ति शुभंते तिंगंते कदाचित कृदंते गता वेद विद्या वेद विद्या तो नष्ट हो चुकी किसी को पता नहीं वेदोच्चारण कैसे होता है स्वरित का ज्ञान नहीं प्लुत का ज्ञान नहीं ज्यादा प्लुत कर देते उसे ताकत लगा करके कंपटीशन चलता है राजा हाँ। जी राजा विद्मय <laughs> क्या पंडित लोग है तो सिनेमा का गाना गा सकते ही नहीं गता वेद विद्या गतम धर्म शास्त्र धर्म के नाम पर ढोंग हो रहा है धर्म शास्त्र कोई नहीं जानता गतम रे गतम रे गतम न्याय शास्त्र और तर्क वितर्क सब गया केवल कुतर्क रह गया सही है नहीं न तर्क जानता है न वितर्क जानता है कोई बात को उसे कुतर्क करना ही जानता है इसे गतम रे गतम रे गतम न्याय और है क्या क्या है इधानी तनाना जनाना प्रवृत्ति आजकल के जमानों के लोगों का प्रवृत्ति सुबंते तिगंते कदाचित कृदा सुबंत तिगंत में ही डूब जाते हैं वहीं से रिटायर्ड हो जाते हैं कृदंत भी कभी कभी भूल जो से कोई पा देता है ये दुर्दशा है इसलिए स्वाध्याय अति आवश्यक है स्वदेहा अशुद्धि गंधे न विरचित यह पुमान विराग कारण तस्य मान्यत्व ऐसे को और वैरागी का साधन बताने का फायदा ही क्या है जिसको जैसा रहना वैसा ही रहना है बदलना ही नहीं है तो उसको क्या बताओ बताना व्यर्थ है ना जो समझे अपनी कमी को और आगे न करने के लिए तैयार कर संभल जावे उसको यदि साधना बताओगे तो सफल हो जाता है जिसको न समझना है न संभलना है उसको सुनाने का कोई फायदा नहीं इसलिए कहते हैं ये सोच के पीछे बहुत ही महत्व है नियम का सबसे पहला जो लखा है कहते हैं कि भाई नहाते तो सभी तो बोले क्या जरूरत है उस सूत्रकार को आपको पता लग रहा है किसके बिना क्या हो रहा है और जो है देखने को मिल रहा है शौच करके उसमें भी वास्तव पाखंड इतना इन्हें संतोषा अनुत्तम सुख लाभ अनुत्तम सुख मिलेगा खराब सुख मिलेगा ऐसा अर्थ नहीं करना न विद्युत उत्तम सुखो यशनाथ अनुत्तम सुख बहुरी समास करना है जिस सुख को पाने सर के बाद उससे भी उत्तम सुख संसार में न हो ऐसा सुख प्राप्त हो जाता है किससे संतोष से संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ कथाकार लोग सुना पांच पच्चीस पचास भाई सुनाते हैं पांच की पच्चीस हुआ पच्चीस से सौ रुपए बने सौ से हजार बने हजार से सोचा लाख हो जाए लाख से फिर चक्कर चल रहा है अरब खरब सब पर प्राप्त हुआ इस लोग के प्रतिपति बनने से भी नहीं चला अगर स्वर्गपति भी बन जाना चाहता है यही तो रासुरों में आपने देखा है तीनों लोगों का मालिक बन गया तब भी संतुष्टि नहीं कहता है वो ईश्वर कौन है वो भी मेरा नौकर होना चाहिए बस उसको भी पकड़ने का प्रयास तो यही होता है असंतोष असंतोष है तो सुदामा जैसे जहां है एक बार पानी भी मिल जाए उसी में संतोष उसी में आनंद है भजन में कोई विघ्न नहीं होता है असंतोष भजन में विघ्न साधना में सबसे बड़ा विघ्न असंतोष इस संतोष से वास्तव में इतना बड़ा फल मिलने वाला है संतोष को अपनाना ही चाहिए न केवल मेनम तो वैश्विक सुखम विषम ही प्रतिकूल जितने विषय सुख है उसको विश्व समान प्रतिकूल मानता है तभी वो अनुत्तम सुख के लिए प्रयास करेगा संतोष को प्राप्त करना चाहिए संतोष कोई बाह्य साधनाओं से प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है एक अंत वृत्ति विशेष है अपने मानसिक वृत्ति विशेष है शरीर का उपजीवन हेतु आवश्यक न्यूनतम पदार्थों से अतिरिक्त अपेक्षा करना ही असंभव है साधना के लिए आवश्यक जो शरीर को जिंदा करने हेतु भूत पदार्थ जो होते हैं उतने लिए होना चाहिए उससे अधिक की आकांक्षा वो असंतोष उतने की आकांक्षा करना पर वह शोध ही प्राप्त हो जाता बैठे जगह मिल जाए संकल्प क्यों ईश्वर उसका देखभाल कर योगक्षेम वो देखभाल आप साधक हैं आप निर्णय ले लिया है मुझे अधिक कुछ नहीं चाहिए इस शरीर जिंदा रहे और मेरी साधना चलती रहे आत्म साक्षात्कार पर्यंत मैं जिस मार्ग में लगा हूं इसमें आगे बढ़ते रहूं मुझे और कुछ नहीं चाहिए ऐसा सोचने वाले का ईश्वर मालिक है वह योग से वाहन करेगा उसके लिए आपको कोई पृथक प्रयास की अपेक्षा नहीं होती है वही वास्तविक संतोष इसलिए कल संतोषात अनुत्तम लाभ संतोषामृत पान ये शांता तृप्ति मागता भोगाश्री श्री रतुला तेषा ईशा प्रतिविषायते तेषा भोग श्री अतुल भोग श्री तेषा प्रति विषाय जो संतोष नामक अमृत का पान के द्वारा करके पान करके शांत वृत्ति वाले तृप्ति को प्राप्त किए हुए योगी होते हैं उनके लिए भोग ऐश्वर्य अतुल जिसे कोई तुलना ही ऐसा महानतम ऐश्वर्य भी प्राप्त हो जाए वह उनके लिए जहर के समान है तेषा प्रति विषायत भोग श्रीर रतुला तेषा प्रति विषायत उनके लिए जहर के समान हो जाता है अर्थात किसी प्रकार के भोग सामग्री के प्रति उनका आकर्षण नहीं होता है ये आती दूसरे से जवानी ले लिया भोग लिया उसके बाद अकल खुली उसने उसने ही कहा है या दुस्त्यजा दुर्मतिर ज्ञान चीर्यति चीर्यदाम ताम त्रिस्ताम संत जन प्राज्ञ हूं सुखे नैवाभिपूर्यते <coughs> यह दुस्त्यजा दुर्मति कौन सा त्रिष्टाराम की दुर्मति है जो अत्यंत दुस्त्यजा है अज्ञानियों के द्वारा त्यागना कठिन है जो तृष्णा जो सारी दुनिया बूढ़ा हो जाओ कभी बूढ़ी नहीं होती है ऐसी है तृष्णा जीर्यताम जीवान वृद्धान न जीर्यती कदापि या तृष्णा सात संत्यजन उस तृष्णा को त्यागता हुआ व्यक्ति वास्तविक प्राग्ञ है और सुखे नहीं अभिपूर्यत है वह वास्तविक परम सुख से परिपूर्ण हो जाता है रियाति को बहुत देर में समझ में आया लेकिन आप लोगों का भाग्य उसके वचन आपको जवानी में मिल गया है अब आप अभी संभल जाए तो अच्छी बात है नहीं नहीं तो बुढ़ापा में क्या कर लोगे हम्म? ये चपकाम सुगम लोग है महाभारत का श्लोक दे रहे हैं तथा चुप्तम ये चपकाम सुगम लोग है ये दिव्यम महत्सुगम सुख से नारद षोडशी कलाम कृष्णा का क्षय से जनित जो सुख का एक कला के बराबर नहीं है ये सारे सुख बाकी जो काम जन सुख अपनी इच्छा पूरा हुआ उससे जनित जो सुख है या किसी लोकों में प्राप्त होने वाला स्वर्गादी लोक में प्राप्त होने वाले जो सुख है वे सभी प्रकार के जो सुख होते हैं दिव्या दिव्य समस्त सुख जो होते हैं वे सुख त्रिलक्षणा क्षय से जिन सुख के दृष्टिकोण से एक अंश के बराबर भी नहीं है तो सेवा मात्रा उपजीवन की उपनिषद इसलिए कहते हैं बस आत्मस्वरूप की आनंद रूपता का परिपूर्ण आनंद स्वरूप का एक समुद्र के बूंद के बराबर भी नहीं होता है इस ब्रह्मांडांतवृत्ति समस्त सुख ऐसा समझकर ऐसा विवेक करता हुआ सांसारिक पदार्थ सुख से घृणा करके उनसे व्यक्त होने वाला व्यक्ति ही संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ का अनुभव कर सकता है तप का फल क्या है ओम